चोए जैसे चेलायन पर गट बुलाए I kuai kai gimai. घर घर घर में तो अलग जगाया जी अलग जगह में नहीं अब कर दे आज भाया धोबे के को पड़े गयो ठीक रे बामन करत उलाए जे ये भाया कायत किन जादू ले उठाए चौदह से चेला बकरे बनाया चरपट जले देश आज धूलो मायर चेलन बैत भीड़ पड़ी पट चलायन जब सुर ते घुमाए जब ते घुमाए ये बाबा वो तो चला बकरा बकरे रे बन कुएं उन वो तो हकाया भंगा लाए जाओ उनको पता लगा मेरे बेटा गोपी चंद को लाना मेरे पाए से चौदह से चेला कोई भी तो आवे मंगाय लो चल दिया व गुप कर चला आज ये तो मजल मजल चला गया रे बंगा जाल रब जाए रे निशाने उनको धोना की पाई वायोर चोदस चेला बुगला बणा सीधा तुम जाओ बंगाला में और गोपीचंद को पतो लगा कर लाओ तो चौदह सौ चेला घोर बंगाला को चल दिया चेला मजल मजल गए पड़ते जा घोर बंगाला में कुआ झालरा पे जा करके पहुंचा तो गोपी चंद ने धोनो लगायो जो उनको धोनो पाए जो बचे गोपी चंद है तो नहीं धोना है उसकी सेनानी तो यहाँ यहाँ है तो चेला घर घर में हो गया अलग जगह में कोई बिच्छा ले जाए कि ना ही कर दे माताओं फैले मारी फेरी लग रही है हम पीछे भिक्षा लेंगे अब वो तो गोपी चंद को पतो लगावा डोल उनको कोई भिक्षा दिखाए जरूरत थी पिथरा में कायत की बोली तेली की ललकारी भाया जाओ दिन धोबी की ने जादू का डिब्बा उठाया कि ये तो इनका या का हेरा है ये कोई जोगी नहीं है कोई चेला नहीं है कोई बिच्छा नहीं ले पा है जादू का डिब्बा उठाकर चौदह से चेला पे जादू दियो तो बकरा बकरी बना और बन को हका दिया चेलहन वन में बाबा गोरखनाथ को नाम लियो बाबा यहाँ तो हम प्यादा में हम तो तेने भेजा है हाँ, कैसा और हम बना दे हैं हाँ, कैसा बाबा गोरखनाथ को फिर धोनो आज अरे चरपट चेला जल्दी आ गो जो भाई काई बात है जो चेला में भीड़ पड़ रही है चौदह से चेला गुप्त बुलाया बेटा वो बंगाला बुझाओ और चौदह से चेला वो राख लिया और गोपी चंद्र राख लिया उसको पतो लगा कर लिया अब चौदह से चेला गुरु का हुक्म चौदह से चेला फिर बंगाला को चल दिया जार कुआ झालरा वो भी पहुंचा उनने दिया कि हाँ चेला यही है की तो चौथे से चेला घर घर में हो गया फिर तेलिकी के चेलो पहुंचे और तेलिकी ने पिछाने का हेरा तेलिकी ने जादू का डिब्बा उठाया चौदह से चेला बुगला बना बन को उठा हाँ, दिया चेला ने मन में नाम लियो बाबा गुरुनाथ को फिर सिंहासन गो के चेला चरपट ये क्या है चौदह से चेला गुप्त चौदह से चेला प्रकट जो अट्ठाईस से चेला बंगाला में राख लिया नहीं अब तो बेटा आपा चलेगा और उस बंगाल आप चल के देखेगा कैसा तो कैसे एक चरपट चेला और बाबा गोरखनाथ और बंगाला को चलता है और वाई कुआ झालरा पे जाकर के फोंतता है और अपनी माया को फैलाता है और वहां इनके विवाद अब चारों जने इनके बाबा गोरखनाथ के होता है वहां विवाद जाएंगे सब हम्म। भजले नाम हरि का फिर फिसता हुए झूठा है संसारक धोखो खावे गो लील नाम हरि का फिर पिसता हुए गो झूठो है संसारक धोखो खावे गो पट बोला चरपट सायर चेला तो मैं I जान बटव गोरख नरलिया हजयन उडन खड़ाऊ पावन फरे रचलो रे ये तो दोन रचाल जी ये तम तो मजल मजल ध्वन जावे रे कुवर जल जाए कर के चल रे बंगाए लायती सगे तिरिया आवे अब फैलाए सबको वन को जल तो वन जल जल ही चकुआ झाल रन भेड़ खियो बड़े बंगाए लायके नारे रे सगड़ा कुआ रेतार पान पानी आवर कुर जल सबड़ा तो आम जे रे भाया चाय रोजाने पीछे आए रे बाबू जी उन धोना पे जादू मरो रे जाए कोयरे पुरो चरपट चेलत बोलो फिर चेला आपन पे बस किए हो महंगी नायर जादूर इनका बहुत सवायो यहाँ सुन और नहीं ये तो आपन राखे जी इतनी बिसने कायत किर बोए के नहीं रे गुरु तुम्हार सात समंद जे ये रे बाबा सात समंदर पहले पड़ रे जालंदर माए भी तो तपेरा एक पिंजरा सुवन जबिता मुंजो जे बाबा जी हुए भी पड़ जावे तेरे हाय ते बस के तेर जावे हम चेड़ी मैं और गारड़े की तो लूंगो रे सवारी जी तो बाबा गोरखनाथ चरपट चेलो बोले बेटा चौदह से चेला गुप्त चौदह से चेला अपना प्रगट और बंगाला में राख लिया बेटा आप अभी चले बंगाला चल रहे देखें तो दोनों चल दिया उठन हो खिदमत की झोड़ी हिकमत को बटुओ बाबा गोरखनाथ ने अपना बगल में लेकर के चल दिया तो मजल मजल जार गौर बंगाला में कुआ झाल रहा पहुंचा कि हाँ चेला यहाँ आ लिया है गोरखनाथ जी बोले कि चेला सबड़ा कुआन को मैं जल सुखाऊ और इसी कुआ में जल रखो तो जो भी है जो इस कुआ पाएगा यही आप देख लेगा तक कैसा जादू है कैसा जादू नहीं सब दुनिया यहाँ आ जाएगी तो सारी वहां भर भर जल ले जाए वही चारों पीछे आई उन बाबा जी हाँ ई बाबा जी माया फैला रही तेली के ने अपना डिब्बा जादू सु दिया अग तक या बाबा जी में कितना जादू है जब तुम्हारा नहीं तके उड़ावे तक तुम्हारा जादू चले तो धूणा की लकड़ी जादू सो और गोरखनाथ जी की सब दूर भगा देगी अब गोरखनाथ जी भी कंप मान हो गया कि चरपट चेला ये बस की नहीं होगी चेला जल्दी से जल्दी भगने आपान को भी राखेंगे कायत की बोली बोले बाबा जी तू आयो जितने को चलो जा और नहीं तो को भी राख लेगा हमारा गुरु सात समुंदर पहली पहाड़ है मायक सुवा को पिंजरो टके हुए जिसके सर बीछू सब लिपटा हुआ बाबा जी जो तेरे वो हाथ पड़ जावे तो सारे जीव जान सारा जादू उसमें है जब तो हम बस के होने तेरे आज हुए काल हुए तो बाबा गोरखनाथ को भेद लगते हैं बाबा गोरखनाथ कहवा लग गया कि भाई चरपट तू तो रहे यहाँ और मैं इंद्र का अखाड़ा में जाऊंगा और गढ़ की सवारी लूंगा और फिर मैं सात समुद्र पहली पार गढ़ के सवारी लेकर जाऊंगा और जब मैं उसको ले आऊंगा वहां से जब तक तो अपने बस के होंगे नहीं अपने बस के नहीं मौसम ज्यादा जादू है इनमें तो बाबा गोरखनाथ एक गरुड़ की सवारी लेकर के गरुड़ पर बैठ कर गए और सात समुद्र पहली पार जावे है और जार बाबा गोरखनाथ ने वहां पिंजरा पे हाथ गेरो और वहां जलंधर नाथ को ठीक पढ़ियो पढ़ियो हाँ आज तेरो बैरी गए दुश्मन आ गए और वहां तो वो भगता है और बाबा गोरखनाथ सुहा का एक पांव तोड़ता है तो वहां एक पांव तोड़ते ही और उसका भी एक पांव टूट गया गोरु का नहीं नहीं जलंधर तो वो सारी जीवा जो जो सुहा में ही वो विद्या ही सारी जब भी एक पांव सौ लुडक फुटक होता है फिर गोरखनाथ जी ने दूसरा भी तोड़ दिया तो दोनों पांव टूट अब उसने सोची एक जुलम होगी ये तो इसको भेद दे दिया उनने कोई भेद दे दिया जैसे यह यहाँ पर आया है तो बाबा गोरखनाथ उस पिंजरा को लेकर के और बंगाला में आवे है और फिर वाई कुआ झालरा पे धोना लगा कर बैठे है और फिर उसी कुआ में जल को भेड़ा करके फिर वही कुआ पे बुलवावे है और अब इनके इनके यहाँ कैसे कैसे जवाब हुए हैं और बाबो गोरखनाथ अब इसका चार उनको पर जादू तो दे उनको चार उनको गधी सब उनको गधी बना दियो बनावे हैं चरपट चेला लगा दे दावड़ी दे इनके सोटान की मार जैसे ये चेला न मंगवावे तो इनके सोटान की मार लगेगी जब चौदह से चेला गुप्त चौदह से चेला अट्ठाईस से चेला न वही बुलवा देंगी मत मारे बाबा जी ये तेरा चेला है पर जब भी गोपीचंद को भूलेगा गोपीचंद तो आगे आगे क्या हो देखो बाबा जी चो समंदर पहले पायड़ पिंजरा पे

चरपट मेरा सुन ले चेला जाए वे दुख सुख की तो बात बतायो जी बेटा कछु दुख तो नहीं पायो मैं चली गयो कछु पीछा से तो तेरे लिए कछु बोल चरपट चेलो कह रहे हो बाबा जी मुझको कोई दुख सुख नहीं मैं तो आराम से धोना पर है हूँ बेटा सगेड़ा कुवन को जले ओए रे कुआए झलरा अवे वे तो ही जे रे बेटा अब रे देखूंगो जादू ओए रे इन पर अब लाल रप के दुनिया ये रे वो तो चारों तो पीछे रे आवे रे बाबा जी बचन भरे जा बंगा लाश ओए बाबा जी नहीं तुआ इन पे मारो रे चारों रे यान गदे तो बना दे जे मारा रे सबद दो का चारे tierra. हम कुएं ओए रे चेलाए तेरा अभी तो बुलाऊं ચોય સચેલા પણ ગુપત બોલવાયા ઇન પર ગટ બોલવાયા પણ ચેલા અર બણાયા યરે ચેલા બેઠો રે दी भीड़ पड़ी हम पे तो बहुत इन हम को बहुत दुख देना जी जब रे गोर के जोगी चार पट से बोलो बेटा चेला अपना आज्ञा ये रे ये तो गोपी चंद को गया वो जो भूल रचारों उन वो भी छोड़ी मायण से पणवाए देव गोय रख साय जोगी विद्या कर पूरा ये तो वर चित्त अपने द्वार रसुआ वहीं पा लगैया दजया मेरे सण लगारो जी ये गारो तो चलो आयो नाय रजा पे सगड़ा ये भी तो हुआ बट चलो बोलो बाबा जी मैं भी रैली आऊंगा ये रे बेटा जाए जो तेली के द्वाए रे गोपी चंद को तुए तो उठायो रचर पट चेलो बैल तो के उतरा घाना सात रचे लाए तो टपटा रोवे से रे ओए ओए रे चर पटे चेलो बैल तो बना बाबा जी सब चेला आ जा अट्ठाईस चेला अपना आ जा गोरख जी कह बोले वो बेटा हो बोले क्यों मारो इनको छोड़ दो जाबा दो और आप अपने चलें तो चारों जने छोटी छोड़ते हैं जा जाते लेकिन देखो तक तो गोपी चंद को पीछे लटका पाओ जब बोले कहू हो जो तो अपना गण रह गए जाबा दो चलते पर चरपट चेला के याद आई बोले बाबा जी जापे अपनी कछु हुई वो तो गोपी चंद था और रो बोले बेटा वो तो भूल गया तो चरपट चेला ने की बोले मैं ही ले आऊंगा वो तो बाबा जी गुरु को मन ही मन वहां से आए हाँ बोले जा बात आए तो बोले बेटा तू जा और गोपी चंद को लेकर तो चरपट चेलो और सुधो तेलिकी के बाणे जार पहुंचे और तेलिकी के निंग आए और तेलिकी ने जादू उठार चरपट चेला के दियो तो बच बैल बनाए बैल बना और घाने में दे दियो बच के सात घाना उतारे चेलो तो टप टप रोवेले बाबा जी ने बहुत बुरी करी हाँ। और वहाँ गोरखनाथ जी को धोना पे हाथ से आवे और दिन तुम तो नु को चरपड़ चरपड़ चेला भाई धोना को लकड़ लिया जब नु कही दो तो, मैं ना बाबा जी हाँ। और आज तेली की ने बच के सात घाना उतारे पर चेला को या पक्को हो बद आखिरी में जब बाबा जी ने वो सात घाना उतार लिया चेलो अति पात आयो जब गोरख जोगी चले वहां से तो कैसे गोरख जोगी एक तेली की घिबाण पहुंचे है और चरपट चेला है घाना में चल तो देख है बोले बेटा मैं बोरनू खो कि एक लकड़ी धोना को लिया जब मोह को नट जाओ अब तो तू या को नहीं नट रहे हो ना तुम साथ घाना उतर हैं बोले बाबा जल्दी जल्दी छुटा नहीं प्रहान निकसा जा रहे हैं तो कैसे बाबा गोरखनाथ अब चरपट को गोपीचंद को छुटावे है और इनके इनके यहाँ विवाद हो बाबा जी हम जो भगवान बिस्तर वालों कोई आ जाए वो बंगाला में तो उसको हम छेड़ नहीं करेंगे तो ये हमारे तल्ला के बिगर भगवान बाना वाला सुन भगवान बाना वाला तो नहीं बोलेगा तो बंगाला में ऐसा भगवान बाना वाला कोई भगवान बाना वाला चल जाओ चार लड़की थी कुछ चार बने की बनाई थी एक को तो चील बनाई है हम्म। एक को गधी बनाई है और एक को ये छीक आवे ये छीक बनाइए ये चार बनाइए इनको न्याय न्याय अलग अलग चार इनको गौर बना ये जी जब ये गधी के बच्चा जब पैदा होता है ना जब ये गोरखना चेला की बाबा या तेली की नहीं इसने बहुत कैडी करी थी जब गोरखना ने चिमटा धूणा में दे तभी डाली लगाई है गधी का गधी के तो होता होता बच्चा का वो छाप है जो होता होता बच्चा का छाप आवे यहाँ नाड़ी लेके आओ चील काटी और ये चील है एक ये चील उड़ती डोले भगवान ये ऐसा बना की चील कोई जय ही कोई कोई ऐसा ये चील और है ये भी बाबा गोरखनाथ जी ने बनाई हुई है और ये छीन ये एक मक्खी बन पेश की दिया इसका अगर मैं तो यह फिर ये शेड यश जय हो भगवान शेड माई तो ये तीन को तीन इन तीन बहुत कैडी जिंदगी बिगाड़ी थी इनने

बोलवाई கருதே பங்களம் ஆணர பகவ गोमारो नाई रे बाबा जी आप चले ना We the Guru's Subhulyo Jave Aya Le. guerreira. Yeah.